और आप उन पर गम न करें और न ही आप तंग दिल हों इससे जो वो चाले चलते हैं